राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्नू के लिए एक कहानी धोखे की सजा दोस्तों एक था सियार वो घने जंगल में रहता था सियार बहुत चालाक था एक बार उसे बहुत जोर से भूख लगी वो बहुत देर तक जंगल में भटकता रहा लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला वो भोजन की खोज में नगर की ओर चल दिया मैं होशियार मैं होशियार मैं होशियार जी आज नगर की सैर करूं खाऊं पीऊं मौज करूं आज नगर की सैर करूं खाऊं पीऊं मौज करूं मौज करूं जी हाँ मैं होशियार मैं होशियार मैं होशियार जी मैं होशियार मैं होशियार मैं होशियार जी खाऊं पीऊं मौज करूं खाऊं पीऊं मौज करूं खाऊं पीऊं मौज करूं खाऊं पीऊं मौज करूं जब सियार नगर में पहुंचा तो नगर के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए सियार डर कर भागते भागते एक रंगरेज यानी कपड़ा रंगने वाले के घर में घुस गया वहां एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था हड़बड़ी में सियार उस बर्तन में गिर गया दोस्तों रंगरेज ने उस बर्तन में नीला रंग घोल रखा था बस फिर क्या था जब सियार उस बर्तन से निकला तो वो नीले रंग का हो गया था नीला सियार जब जंगल में पहुंचा तो सारे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे क्योंकि उन्होंने नीले रंग का जानवर पहले कभी नहीं देखा था उन्हें डर से देख नीला सियार बहुत खुश हुआ वो जोर जोर से कहने लगा सुनो सुनो तुम लोग क्यों भाग रहे हो मुझसे डरो नहीं मेरे पास आओ मेरी बात सुनो <laughs> मैं विचित्र जीव हूँ मुझे भगवान ने भेजा है मैं तुम लोगों की भलाई करने आया हूँ आज से मैं तुम सबका राजा हूँ सियार की बात सुनकर हाथी बोला जंगल का राजा तो सिंह है यानी शेर वही सबसे ताकतवर है शेर मुझसे ताकतवर नहीं हो सकता तुम शेर को मेरे पास लाओ मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ नीले सियार की बात सुनकर सारे जानवर डर गए उन्होंने सियार को अपना राजा मान लिया तब बंदर नीले सियार से बोला महाराज महाराज महाराज महाराज आप आप क्रोध ना करें हम्म। मैं अभी राजा शेर राजा हम हैं नहीं नहीं शेर शेर शेर को बुला के लाता हूँ जल्दी लाओ बंदर दौड़ता हुआ शेर के पास पहुंचा और बोला <laughs> महाराज <laughs> महाराज जंगल में एक विचित्र जीव आया है महाराज उसका उसका रंग नीला है हम्म। वो कहता है कि उसे भगवान ने भेजा है वो इस जंगल का राजा बनकर रहेगा महाराज क्या कहा वो जंगल का राजा बनकर रहेगा मेरे होते हुए वो जंगल का राजा कैसे बन सकता है मैं अभी चलकर उस विचित्र जीव को देखता हूँ शेर बंदर के साथ सियार के पास पहुंचा सियार शेर को देखकर दो पावों पर अकड़कर खड़ा हो गया नीले रंग के ऐसे विचित्र जीव को देख शेर भी डर गया तभी सियार बोला हम्म, बंदर हैं? तुम शेर को इतनी देर में क्यों लाए हो महाराज महाराज <laughs> मुझे देर हो गई मुझसे गलती हुई क्षमा कर दें फिर फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा ठीक है ठीक है आज तुम्हें क्षमा कर देता हूँ लेकिन फिर कभी गलती की तो बहुत दंड मिलेगा हाँ, तो मेरे जंगल के जानवरों अब मेरा पूजा करने का समय हो गया है इसलिए मैं गुफा में जाकर पूजा करूंगा तुम सब अपने घर जा सकते हो सब जानवर नीले सियार को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए सियार उस जंगल का राजा बनकर मजे से राज करता रहा वो सारा दिन गुफा में सोता रहता जानवर उससे भोजन लाकर दे देते थे सियार सुबह शाम खूब भोजन करता वो सारे जानवरों से खूब काम करवाता किसी से पांव दबवाता तो किसी से पानी मंगवाता सारे जानवर उससे बहुत दुखी रहते पर हाँ दोस्तों लीला सियार था बहुत चालाक वो अन्य सियारों को अपने पास भी ना आने देता था वो डरता था कहीं सियार उसे पहचान ना जाए दोस्तों एक दिन नीला सियार घूमने निकला कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक जगह बहुत से सियार बैठे थे तभी वो बोलने लगे उनकी आवाज सुनकर नीले सियार से भी नहीं रहा गया वो भी जोर जोर से बोलने लगा सियारों ने नीले सियार को अपनी तरह बोलते देखा तो वो सब समझ गए उन्हें पता चल गया कि विचित्र जीव भी उनकी जाति का ही सियार है सियारों ने जंगल के दूसरे जानवरों और राजा शेर को भी बुला लिया और उन्हें भी बता दिया कि विचित्र जीव सियार ही है अरे देखो अरे देखो ये विचित्र जीव सियार है अरे देखो हाँ, हाँ ये, ये तो जीव सियार हाँ, है हाँ, ये तो हमें धोखा दे रहा था हाँ महाराज शेर इसे अवश्य दंड देना चाहिए सबको मिलकर इसकी पिटाई करनी चाहिए <laughs> शेर राजा शेर राजा मुझे क्षमा कर दो मुझे छोड़ दो मैं फिर कभी जंगल में नहीं मुझे क्षमा कर दो मुझे क्षमा कर दो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तुम्हें धोखा देने का दंड जरूर मिलेगा किसी को धोखा देना बहुत बुरी बात है धोखे की एक दिन पोल जरूर खुलती है जानवरों इस सियार की खूब पिटाई करो और इसे जंगल से निकाल दो तो बच्चों जानवरों ने उसे जंगल से निकाल दिया सियार के जाने पर सब जानवर खुश होकर नाचने गाने लगे पकड़ा गया सियार ने भाई, भाई, पाई धोखेबाजी नहीं चल पाई हुई बोल तब हुई पिटाई गया प्यार रे भाई अरे गया प्यार रे भाई अब हम मौज मना की सजा अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख शशि भूषण शलक संगीत काजल घोष ध्वनियांकन मैत्रेयी द्विवेदी निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम